الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार कि वो बाहम दोस्त ही रहेंगे मेरे बंदो आज तुम्हें न कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फर्माबरदार बन गए उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ उन पर सोने की तश्तरियों और प्यालों का दौर चलेगा और वहां जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा और ए अहले जन्नत तुम इसमें हमेशा रहोगे और ये जन्नत जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो तुम्हारे अमाल का सिला है लकुम फीहा फाकिहतुम कसीरतुम मिन्हा तअकुलून इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाब جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون यहां तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे और गुनाहगार यानी कुफार हमेशा दोजक के अजाब में रहेंगे जो उनसे हल्का न किया जाएगा और वो उसमें नाउमीद होकर पड़े रहेंगे और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे और वो पुकारेंगे कि ए मालिक ए दोजक के निगरान तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत ही दे दे वो कहेगा कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे लेकिन तुम में से अक्सर हक से नाखुश होते रहे क्या उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम इनकी पोशीदा बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं क्यों नहीं सब सुनते हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास इनकी सब बातें लिख लेते हैं कुल इन كان للرحمن वलद فأنا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء ترجعون कह दो कि अगर रहमान के लिए औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूं ये जो कुछ बयान करते हैं आसमानों और जमीन का मालिक जो अर्श का भी मालिक है उससे पाक है तो इनको बकबक करने और खेलने दो यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है उसको देख लें और वही आसमानों में भी माबूद है और वही जमीन में भी माबूद है और वो हिकमत वाला है इल्म वाला है और वो बहुत बाबरकत है जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबकी हुकूमत है और उसी को क्यामत का इल्म है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते हाँ जो इल्म यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकती हैं और अगर तुम इनसे पूछो कि इनको किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि अल्लाह ने तो फिर ये कहां बह के फिरते हैं और बसा औकात पैगंबर कहा करते हैं कि ए परवरदिगार ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते तो ए पैगंबर इनसे मुंह फेर लो और सलाम कह दो इनको अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा